किसी की संपत्ति नहीं होगी ये सार्वजनिक संपत्ति होगी स्वर्ग में रहेगा जब देवताओं का स्वर्ग में अधिकार हो तो देवता इसका उपयोग करें दलितों का अधिकार हो तो दलित इसका उपयोग करें ये व्यक्तिगत संपत्ति किसी की ही हुई ही स्वर्ग की रमनी हुई और भगवत पराश्री रमा जा लक्ष्मी जी प्रगति भाव उनको देख करके तो सब इच्छा करने लगे तो हमको मिल जाए इंद्र ने देखा तो साक्षात ये भगवती प्रकट हुई है उन्होंने भी एक आसन चौकी लाकर के डाली गंगा आदि नदियों में मुहूर्तमती होकर के स्वर्ण के कलशों में जल भर करके उनको स्नान करने के लिए रखी पृथ्वी तो में औषधि तो गौरव ने पंच गद्य बसंत ऋतु में फल भी अर्पण किए दिग्गजों ने पूर्ण कलश लेकर के भगवती को स्नान कराया समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र भगवती को दिए दादों ने जैन की माला दी सब अब माला को हाथ में लेकर के लक्ष्मी जी अब ये देख रहे हैं कि हम माला किसके गले में लाए किसको स्वीकार करें तो स्त्री को स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है तो कमल माला हस्ते जीता आसन कुंडला बत्ती गलती सती के साथ वो देख रही है कि हम किसको अपनाएं किसको अपना स्वामी बनाएं बेफाम तपस्वियों के जो बड़े बड़े तपस्वी जहां बैठे थे नूनम तपोजन मन निर्जरो ज्ञानम कचित तत्न संगवर्जित कच्चि महास्तन काम निर्जय श्रीश्वर किम करते जताशल दुर्गा साहब ऋषियों को देखा लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो ये बड़े तपस्वी परंतु ये क्रोध ही है क्रोधी नहीं तो क्रोधी तो अपने क्रोध से अपनी तपस्या को अपने आप नष्ट करने का तो लक्ष्मी जी ने उनकी उपेक्षा करी तो समझ लो क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं जाना चाहिए लक्ष्मी को चाहते हो तो क्रोध पहले छोड़ो ज्ञानम कथित तत्व संगवर्जितम आचार्य अच्छा, शुक्राचार्य और बृहस्पत को देखा कि है तो ये बड़े सिद्ध पुरुष और ज्ञानी भी है पर अपने अपने चेलाओं में आसक्ति बहुत है तो आसक्ति ज्ञान का फल नहीं होने देती ज्ञान अगर किसी के पास है नहीं तब विषय में उसकी आसक्ति है तो ज्ञान अपना फल नहीं दे सकता तो उपेक्षा करती कश्चिन महान चंद्रमा ब्रह्मादि के देखा यह है तो बड़े महापुरुष सर काम के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया लक्ष्मी जी ने उनकी घोषणा करी परशुराम आदि की तरफ देखा है तो ये धर्मात्मा पर उन्होंने इक्कीस बार क्षत्रियों को मार डाला दया नहीं इनके एकदम उनको भी बड़े बड़े वीर लोगों को देखा तो इनकी वीरता किस काम की है वो तो दूसरे जो अभूत मेरे कारण है काल ये विध्वस्त भगत बड़े बड़े चिरायु जिनकी आयु बहुत थी मारखंड आदि को देखा उन्होंने देखा जो है तो, तो, तो ठीक आयु तो बहुत है पर इनका शील मंगल उनका रहन सहन को तो बदला में यत्र उभयमस्तु सा शुरू अमंगल भगवान शंकर को देखा कि तो यहां सभी गुण है तो जान बूझ करके अमंगल देश में रहते सुमंगला कश्मीर और जब भगवान की तरफ ओर देखा विष्णु भगवान की ओर कहते इनमें संपूर्ण दुनिया के आश्रय है परंतु ये हमको चाहते नहीं ये हमारी ओर देखी नहीं है यहाँ और तो सब है पर यहाँ ये कमी है कि हमको चाहते नहीं लोग लक्ष्मी ने ये सोचा कि चाहे हमको न चाहते हैं तो गुणी हैं तो गुणों के आश्रय तो न चाहने पर भी उन्होंने माला लेकर के भगवान को बोले बोलिए लक्ष्मी राम तो इसका तात्पर्य क्या हुआ लक्ष्मी को चाहो मत लक्ष्मी जिन गुणों से आती है वो अपने में तो इसलिए भगवान चाहते थोड़े थे इसलिए चाहने वालों के पास नहीं गई जो कह रहे काम है डराने माला डालने माले डालने वहां नहीं गई जो नहीं चाहते वहां पहुंची और भगवान के साथ माला डाल दिए तो तुलो फिर हमारे साथ भारत हमारा विवाह होना चाहिए लक्ष्मी जी बोली पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह का कर तो तुम्हारी बड़ी बहन कौन है तो मेरी बड़ी बहन है दरिद्रा भगवान बोले दरिद्रा से कौन ब्याह करेगा तुम्हारा जब तक बड़ी बहन का विवाह न हो तब तक तो सोची को नहीं करना चाहिए ना भगवान के भूल ढूंढे कोई उसके लिए तो उद्दालक मुनि के पास गए भगवान और उद्दालक मुनि से कहा कि भाई तुम हमारे कहने से विवाह कर लो कि महाराज हम आपका भजन कर रहे हैं क्यों होना हमको क्यों ऐसे ऐसी आज्ञा क्यों दे कह नहीं नहीं अगर तुम विवाह न करोगे तो हम भी कार्य कर जाएंगे हमारा क्या कहाँ होगा तो तुम हम पर आकर करके <laughs> से कोई तो विवाह करिएगा नहीं तो, तो आप हमारे कहने से स्वीकार करें तो जिससे हमारा भी विवाह हो जाए उद्दालक मुझे ने स्वीकार कर लिया मतलब फिर आपकी आज्ञा है हाँ तो मेरे क्यों नहीं बोले तो मुझे तुझे कहां अच्छा लगता है कि हमें वहां अच्छा लगता है तो जहां रात को झूठे हैं रात में उदय पड़े रहते हैं दिन में बिस्तर दिन छात्रों के पड़े रहते हैं जहां स्त्रियां जाना आपस से सजाती हैं जाती है गंदी पड़े रहते हैं जहां मुर्गियां घूम रही हैं तो तुम जाओ बोलिए हमारा तुम्हारा इतना सहयोग था तुम अपने घर हम अपने आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी प्रवर्तन दीप का मन कुंडला कुंचित कारण कुंचित केशान का शिव विक्रम पीले वस्त्र धारण करे हुए थे मणि के कुंडल कानों में थे घोंगरा निदाल थे सिंह के समान उनका पराक्रम था अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट और दैत्यों ने देख लिया तो बस यही तो है ही के लिए तो था सारा परिश्रम <laughs> उसको लेकर के या तो उन्होंने अं, मंथन करता कर, करना तोड़ दिया तोड़े और उनके हाथ में से कलश लेकर के और और देखो मर्यादा पहले उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया दैत्य ने मर्यादा का उल्लंघन करते ही दैत्य स्वभाव से लोग और देवता लोग जो है उदास हो गए उन दैत्यों में जो निर्बल थे वो कहने लगे अरे भाई देवताओं ने भी तो प्रयत्न किया है न्याय होना चाहिए सबको ही मिलना चाहिए वो जानते थे हम कभी नहीं मिलेगा <laughs> तो वो देवताओं का पक्ष लेकर बोलने लगी भगवान ने जब देवताओं को उदासीन देखा सर्वोपाधि ईश्वर हो गया योषित रूपों का भगवान को सर्वोपाय जानते हैं जिधर वो दैत्य भागे जा रहे थे कलश लेकर के उनके सामने भगवान प्रकट हो गए एक दिव्य सुंदर स्त्री का वेश और उन्होंने उधर से आती हुई एक दिव्य स्त्री को कन्या को देखा आपस में कहने लगे अहो रूपम अहो भाम अरे इसका रूप कितना सुंदर है इसकी कितनी सुंदर नदी अवस्था और सब लोग जो दैत्य थे उनको चारों ओर से जाकर घेर लिए बोले देवी तुम कौन हो और यहां क्यों घूम रहे हो तुम किसकी पुत्री हो और हमको आपको देखकर के ये मालूम होता है कि देवता असुर गंधर्व सिद्ध चारण आज किसी ने अभी तक आपका स्पर्श नहीं किया ब्रह्मा जी ने हमको प्रसन्न करने के लिए ही आपको हमारे पास भेजा अच्छा अब तुम हमें शांति स्थापित करो हम कश्यप के पुत्र हैं हम भाई भाई हैं हमें आपस में कोई झगड़ा हो इसलिए इस अमृत को ले लो और इसको ठीक ठीक व्यवहार करके सबको बना सुधाम दिवजस्व भगवान बोले तुम बुद्धिमान होकर के और ऐसे स्वतंत्र घूमने वाली स्त्रियों पर विश्वास करते इतनी कठिनता से तुमको अमृत मिला है और तुम हमारे हाथ में दे रहे थे तो ऐसा कहने पर हंसे बोले करके हमें पाप दंड दे दिया पर भाई देखो मया साधु असाधु आकृतम यदि अंगी करो घर में जो कुछ करूं उसमें स्वतंत्र हूं बीच में टोकना ना तब तो हम सुबह का विभजन करेंगे बोले हाँ हमको सब स्वीकार है तो उनके अच्छा आपको तो फिर हम पिलाएंगे नहीं आपको तो उपवास करोगे कृतस्नानः उपोष्यग्नि भुक्ता विवेद्यो दानानुगत तो वह कल एक दिन उपवास करके दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के शुद्ध वस्त्रों को पहन करके और कुशाओं के आसन पर बैठ करके बड़ी बारी एक यज्ञशाला थी उसमें धूप वृक्ष के दीपक जल रहे थे धूप जल की सुगंधी आ रही थी पूरब को मुख करके सब बैठ गए भगवान को मोहनी के रूप में कलश हाथ में लेकर के उसने प्रवेश किया और बेटा इन दैत्यों को मत पिलाना तो अरे सर्प को माना दूध पिलाना इसलिए देवताओं की पंक्ति से उन्होंने आरंभ किया सुधा को तुलना देवान मृत हराम सुधाम पायाम सब वो उसमें क्या विशेषता थी अमृत में कि जो उस अमृत को पी लेगा न तो वो उसकी उसको बुढ़ापा नहीं आएगा और एक कल्प तक उसकी मृत्यु नहीं होगी जरा मृत्यु हराम सुधाम पायामा सो वे दिव्य मृत्यु मरने का डर नहीं और बुढ़ापे का डर नहीं ये दो ही डर मेरे और कई लोग जो है उन्होंने देखा आपस में कहने लगे तो हमने तो इसे अमृत का कलश दिया और ये देवताओं की तरफ से क्या नाम किया वही तो गया कैसे बात मत करो कहने की प्रक्रिया हो रही है तो स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा ये ठीक नहीं है करने दो किसी ने कहा ये ऊपर ऊपर से पतला पतला इनको पिला पिलाया देगी गाढ़ा गाढ़ा तुम्हारी का गाढ़ा और अमृत अब जो राहु जो तो था उसको ये उसको चैन नहीं चढ़ाकर यहां तक आ गए ना जब देवताओं की पंक्ति में रह जाएंगे और क्या भगवान ने उसको खिलाई दी सूर्य चंद्र ने सूचित किया महाराज तो अधूरा इसको आपने क्यों कह दिया भगवान ने तत्काल खत से भी किसी को पता नहीं चला और कैसे काट दिया उन्होंने अब जो है वो कबंध जो था उसका तो सिर तो अमर हो गया कबंध उसका दे गया सिरस तो अमरताम नीतम हरिस्तम ग्रहण चटाया जल परत परत पर जो है तो सूर्य चंद्र पर आप करता देवताओं को जब अमृत तो पूरी पंक्ति में हो गया भगवान ने अपने हिसाब से पिलाया और देवता कोई बाकी भी दे रहे और अमृत भी बचे नहीं सब देवता जब पी चुके जब खाली कलश रहेगा तो ले करके उधर फेंक दिया देखते और जो है हरी स्वस्वरूपम जग गए और जब चतुर्थ रूप से प्रकट हुए और दैत्य माता खोजने लगे अरे इतने धर्म ये तो देवताओं का पक्षपाती विष्णु है फिर तो दैत्य हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के और गिर गए वहां भयंकर युद्ध होने लगा देवा गुरु नाम रोम हर्षण दारण संग्राम हुआ देवता और दैत्यों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ देवता तो हमें पीछ चुके थे बलि महाराज जो है मयासुर नाम का मयासुर का बनाया हुआ जो बलिहास नाम का विमान था कामक संकल्प से चलने वाला उसमें बैठ करके युद्ध में आए और जाओ तो हाथी पर बैठ करके युद्ध में उपस्थित थे और आपस में युद्ध होने लगा बलि का इंद्र के साथ बृहस्पति का शुक्राचार्य के साथ गुरु लोग भी आपस में बैठे नरकेण समिष्ठे समिष्टे समी तरफ समीश्वर का नरक के साथ किसी का सिर कट रहा है किसी का हाथ कट रहा है भयंकर युद्ध है बलि ने अपनी माया प्रकट की सहस्रों स्त्रियां प्रकट हो गई अग्नि जलने लग गई समुद्र महासागर से पृथ्वी को डुबाया गया है था हाँ, कुछ नहीं मालूम रहता है जब देवता दुखी होने लगे उसकी माया से तो भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए तो वहां वो उनके प्रकट होते ही उनकी उसकी जो माया थी वो लीन हो गई हरिस्मृति सर्वगत विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण व्यक्तियों को नष्ट करने वाली इंद्र बोला रे मूल तू हम हम हम मायावियों को अपनी माया से जीतना चाहता है मैं वज्र से तेरा सिर काट देता हूं बॉस इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया मूर्छित तो होकर के गली गिर गया तो उसके बाद भयम जनयन बल तापयो सिरसी इंद्र जहां बल और पाप का सिर भी इंद्र ने वज से प्राप्त किया और इसके अनंतर नमुची बल और पाप का पाप का जो पद देखा उसने तो क्रोध में बैठ करके इंद्र को मारने के लिए आ गया है और सूर त्रिशूल लेकर के सारे अल्ले मारा गया इंद्र के सूर त्रिशूल को मारा इंद्र के इंद्र ने उस त्रिशूल को तो हजारों टुकड़े कर दिए और क्रोध में आकर के उसके कंधे के वज्र मारा और तो उस वज्र से उस मनुष्य की प्रजाति नहीं कटी तब तो उसको राष्ट्र हुआ इंद्र को अरे इस वज्र से तो मैंने बच्चा सबका बद किया था साधारण असुर उसकी तैयारी तो नहीं कर रही है आज से अब ये वज्र बेकार हो गए अब हाँ, हम आज से इस वज्र को नहीं उठाएंगे ऐसा मैं सोच रहा था आकाशवाणी हुई अरे ये गीले या सूखे किसी पदार्थ से नहीं मरेगा और कोई सोचो तो उम्र में फिर जो समुद्र का झाग होता है जो झाग होता है जो गीला है सूखा वो बज्र का लगा करके मारा तो उसका शिक्षक ले इधर जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजे और बाहर जाकर के दोनों को शांत कर दे जो काम कह रहे आप तुमको हमें को मिल गया आपको लग गया नारद जी आए और ब्रह्मा जी कर से सदैव ब्रह्मा करे तो नारदा एक के क्या नाम स्वयं दृष्टा देवान वाला दैत्यों का विनाश देकर करके देवताओं को रोक दिया रे अब युद्ध बंद कर दैत्य लोग जो हैं बलि महाराज को ले गए शुक्राचार्य के पास तो शुक्राचार्य ने उसको बलि को फिर जीवित कर दिया इस तरह से नारद जी के कहने से वो युद्ध वहां बंद हुआ और इसके अंतर्गत सुखदेव तो जी कहते हैं कि <coughs> स्त्री गुरु दैत्यान सम्मोल्य देवान तंत अपाय नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे बोलो कहां से आए महात्मा <coughs> तो महाराज आप तो दुष्पान करके यही बैठे रहे हम तो वहां सारा सना सामने देखा क्या कि भगवान ने एक मोहन धारण करके बेटियों को वंचित कर दिया देवताओं को मृत लाए अच्छा और महाराज ऐसा फिर भी भगवान का वो रूप था वो देखने के लिए भगवान शंकर बोले भगवान ने जितने अवतार ग्रहण किए तो हमने सबका दर्शन किया तब उसका अवश्य करो तब तो वो जो है भगवान शंकर जो है बैकुंठ में मोहन का जो अवतार धारण किया है हम उसको देखना भगवान बोले तो दैत्यों को मोहित करने के लिए थोड़े दिन के लिए हमने अवतार ग्रहण किया था देवताओं का पारित करने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो तब रूपम के जाए हम आपको उसका भी दर्शन कराए ऐसा कह करके भगवान शंकर पार्वती के साथ वहां सब बैठे थे गांधी बैठे थे वही से पर भाग हो और वहां थोड़ी देर में दरबार जब सामने देखा भगवान शंकर ने एक सुंदर बगीचा कर रखी और उसमें एक सुंदरी कन्या हाथ में गेंद लेकर सके तस् करा संघ को जरा दूर बता गेंद के खेत के गेंद के पीछे जब भागी